नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी के खिलाफ है ऐसा बोल सकते हो इसमें जो कि चैरिटेबल एक्टिविटी जो एक्टिविस्ट का एक्टिविस्ट का जो टाइम जाता है चैरिटेबल एक्टिविटी में वह टाइम उतना वो देश के कानून सुधारने में कम दे पाएंगे और उससे जो नुकसान होगा क्योंकि कानून नहीं सुधरेगा तो देश को नुकसान जाता रहेगा तो जब दोनों का ऐड कर दो तो एडिशन में देश घाटे में जाता है ये चीज मैंने चैप्टर 14 में सॉरी चैप्टर 15 में डिस्क्राइब किया है dear activist Are your actions sufficient, efficient and clone positive? कि तुम्हारे एक्शन क्या sufficient है, efficient है और clone positive है? ये तीन चीजें मैंने चैप्टर 15 में डिस्क्राइब की है। Chapter 15 right to recall party का मैनिफेस्टो ये आपको मिलेगा rahulmehta.com slash 301.htm पे यानी कि देश में मान लो 10, 15, 20, 25 लाख जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए जैसे कि गरीबों को खाना दिया, कपड़े दिए, एजुकेशन दिया या तो <coughs> गायों को बचाने के लिए खुद कसाईयों से भिड़ गए या तो घास दिया गाय को वगैरह को तो उसमें उन्होंने कुछ घंटे दिए कुछ समय दिया हर एक चीज के लिए टाइम और पैसा तो होता ही है उसके लिए तो जाहिर है उतना समय और उतना पैसा वो देश के कानून सुधारने के लिए जो एफर्ट्स है उसमें वो कम दे पाएंगे कानून सुधारने के लिए एफर्ट क्या है अच्छे कानूनों को के बारे में पैम्पलेट छपाकर लोगों में बांटना लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करना कि 80 करोड़ भारत में जो वोटर है भारत में सिटीजन 120-25 करोड़ आबादी और 80 करोड़ भारत में वोटर है तो वोटरों को कन्विंस करना कि वो एसएमएस से एमपी एमएलए को ऑर्डर भेजे कि भाई ये कानून पास करो, ये कानून पास करो वगैरह। तो उतना समय उन्होंने लॉ मेकिंग के लिए कम दिया। तो उसकी जो लॉ कानून नहीं सुधरा, उसकी वजह से जो घाटा हुआ, उन्होंने जो चैरिटेबल एक्टिविटी की उससे 10, 15, 50 यूनिट का फायदा हुआ लेकिन कानून नहीं सुधरे उसकी वजह से 100, 200, 500 यूनिट का घाटा हो गया तो जब दोनों का ऐड कर दोनों का ऐड करोगे तो ये इनएफिशिएंसी यानी घाटे का सौदा हुआ इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जैसे एक चैरिटेबल एक्टिविटी है जो कि कांग्रेस बीजेपी भी करती है और कांग्रेस बीजेपी वो ज्यादा चैरिटेबल एक्टिविटी करती है क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है एक नंबर का दो नंबर का जो भी है पर कांग्रेस बीजेपी के पास पैसा हमारे तुम्हारे एक्टिविस्ट के पास है उससे तो हजार दस हजार गुना ज्यादा होगा मल्टीनेशनल कंपनियां भी बड़े पैमाने पर चैरिटी कर रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसको वो भी बड़े पैमाने पर चैरिटी कर रहे हैं कि गरीबों को खाना देना उसमें पैसा खर्च किया या तो टाइम दिया अब दूसरा था MRCM proposal mineral royalty for citizens and military chapter 5 में दिए राइट टू रिकॉल पार्टी के मैनिफेस्टो में वो कानून यानी कि सीधा मिनरल रॉयल्टी का पैसा सीधा सिटीजन के खाते में जमा हो यदि MRCM होता तो भूखमरी होती ही नहीं तो जो भूखमरी से पीड़ित है उसको खाना दिया वो प्रॉब्लम ही नहीं होता यदि मिनरल रॉयल्टी का सरकारी जमीन से जो किराया आता है वो पैसा यदि सीधा उसके खाते में जमा हो जाता तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होता तो अब एक्टिविस्ट ने एमआरसीएम के कानून को लाने में समय नहीं दिया लाने में यानी एमआरसीएम का ड्राफ्ट है वो लोगों को समझाना और नागरिकों को कन्विंस करना 80 करोड़ नागरिकों को कि वो एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजे कि एमआरसीएम का ड्राफ्ट गैजेट में छापो तो वो टाइम देते तो ये गरीबों में खाना बांटने की नौबत ही नहीं आती और दूसरी तरफ से जो नुकसान चल रहा है कि एमआरसीएम का कानून नहीं हो पास हुआ इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी एक के बाद एक है वो खनिज हथियार रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों को के द्वारा एक जजमेंट ले लिया कि जो जमीन के नीचे पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कोयला है, उसका मालिक है, वो देश के 80 करोड़ वोटर या देश के 120 करोड़ नागरिक नहीं है, उसका मालिक उस जमीन का मालिक है, जिसके पास सिर्फ खेती या रहने के राइट्स है, तो उससे क्या हुआ कि देश में जमीन का मालिक कौन है, जिसके पास दो एकड़, पांच एकड़ से ज्यादा जमीन हो, ऐसे कितने लोग हैं देश में? दो प्रतिशत तीन प्रतिशत तो जो पूरे नेचुरल रिसोर्सेस थे वो ये तीन परसेंट लोगों के हो गए और 97 परसेंट लोगों की मालिकी उस पर खत्म हो गई सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों आया इस तरह का क्योंकि हमारे पास right to recall supreme court chief जज नहीं है right to recall supreme court chief जज ने नहीं है इसलिए जज ने देखा कि भाई ये कानून में दूंगा तो जो बड़े जमींदार है जिसके पास ज्यादा जमीन उसको ज्यादा फायदा हुआ तो जिसके पास मीलों के मील जमीन है, जैसे ये मिशनरीज हैं, उनके पास मीलों के मील जमीन है, टेंपल ओनर्स है, वकफ बोर्ड है, फिर बहुत सारे और लोग हैं, हर तरह के उनको उनके पास मीलों के मील जमीन है। सुरपंखा गांधी है, रॉबर्ट वद्रा, उसके पास मीलों के मील जमीन है, तो उस जमीन के नीचे जितना कोयला है, वो रॉबर्ट वद्रा का हो गया। और देश के 120 करोड़ लोगों के, के हाथ से वो निकल गया सारा कोयला, पेट्रोल, सब कुछ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जो एक्टिविस्ट की कमी थी ऐसा नहीं था पर वो एक्टिविस्ट ये सारे कामों में लगे थे कहीं कपड़ा बांट रहे हैं कहीं पढ़ाई कर रहे हैं मतलब शिक्षा दे रहे हैं और उसमें उनका टाइम चला गया फिर मान लो कि दो लाख पांच लाख लोग हैं वो सीधा गरीबों में जाके दस बीस बच्चों को इकट्ठा करके उनको मैथ्स पढ़ाते इंग्लिश पढ़ाते कुछ पढ़ाते हैं पर वो एजुकेशन से रिलेटेड जो कानून है, right to recall district education officer, सात्य सिस्टम, वो मैंने चैप्टर थर्टी में दिया है, एजुकेशन के ऊपर जो चैप्टर है, chapter thirty improving math science education कि कौन कौन से कानूनों से मैथ्स और साइंस का एजुकेशन सुधर सकता है वो कानून नहीं आए तो उसकी वजह से घाटा क्या होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको रिश्वत देके कानून बनवा लिए कि आठवीं कक्षा तक किसी को फेल मत करना, दसवीं का पेपर आसान कर दो, बारहवीं का पेपर आसान कर दो। तो उससे पूरे पॉपुलेशन का जो मैथ साइंस का लेवल है वो खराब हो गया, खत्म हो गया। अब जितने सस्ते स्कूल है, वहाँ पे मैथ साइंस की पढ़ाई नहीं होती क्योंकि न टीचर पढ़ाता है न स्टूडेंट पढ़ता है सबको पास करना है तो स्टूडेंट सोचता है मैं क्यों पढ़ाऊं मैं क्यों पढ़ूं टीचर बोलता है कोई फेल तो होने नहीं वाला है यदि मैं पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता किसी को पता तो चलेगा नहीं तो अब जो महंगे स्कूल है आईसीएससी के जहां पे साल की फी होती है लाख दो लाख रुपया वहां पे मैथ साइंस की अच्छी पढ़ाई होती है तो जो एक्टिविस्ट थे जो बोलते थे कि नहीं मैं मैं एजुकेशन के कानून सुधारने में टाइम नहीं दूंगा यानी ये जितने एक्टिविस्ट होते हैं ऐसा नहीं बोलते नहीं दूंगा वो बोलते मैं कल दूंगा कल परसों पहले मेरा संगठन है वो बड़ा हो जाए उसके बाद मैं एजुकेशन के कानून सुधारने का प्रयत्न करूंगा पहले मेरे संगठन की दस बीस ऑफिस खुल जाए मेरे को सौ दो सौ पांच सौ वॉलेंटियर मिल जाए उसके बाद में कानून सुधारने का प्रयत्न करूंगा वो हमेशा कोई टारगेट रख देते हैं और वो खुद जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उतना टाइम उन्होंने एजुकेशन का कानून सुधारने में नहीं दिया उसकी वजह से एजुकेशन से रिलेटेड कानून सुधरे नहीं मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसे दे दे के और बिगाड़ दिए और उसकी वजह से एजुकेशन जो मैथ साइंस एजुकेशन है वो उसका स्तर निरंतर बिगड़ रहा है सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या हुआ कि हमारी सेना कमजोर रही आज पाकिस्तान है वो हमारे सैनिकों को कभी पांच सैनिक मार दिए बीच में दो सैनिकों के सर काट के ले गए थे कसब जैसे आतंकवादी हर साल हर महीने भेजते हैं कश्मीर में इतने रायट हो रहे हैं पाकिस्तानी है वो जो रायट करने वाले हैं उनको हर तरह का मदद देते हैं पैसा देते हैं पैसा सऊदी अरेबिया से आता है पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से इस तरह से आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हम पे कारगिल के हम पे हमला किया पाकिस्तान में क्योंकि हमारी सेना कमजोर है हमारी सेना क्यों कमजोर है क्योंकि सेना को मजबूत करने के लिए जो जो कानून हमें चाहिए ज्यूरी सिस्टम का कानून लेबर रिफॉर्म ये सेल्स टैक्स और वैट को हटाना बहुत सारे कानून जिसकी वजह से एक छोटा उद्योगपति परेशान रहता है ये सारे कानून हटाना वो कानून नहीं हटे मतलब सेना के डेवलपमेंट के लिए सेना के विकास के लिए हथियारों के उत्पादन के विकास के लिए जो जो कानून हमें चाहिए वो कानून आए नहीं और जो जो कानून उद्योगों को नुकसान पहुंचाते हैं वो कानून चलते रहे वो कानून निकले नहीं वो क्यों क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो चैरिटेबल एक्टिविटी में सब लगे थे उन्होंने कानून सुधारने पे ध्यान ही नहीं दिया 1947 से लेके आज तक 60-65 साल जितने भी गए, जो एक्टिविस्ट है वो हमेशा ये चैरिटेबल एक्टिविटी में लगे रहते हैं। और कानून सुधारने पे ध्यान नहीं गया, इसलिए कानून सुधरे नहीं, इसलिए सेना हमेशा कमजोर रही। तो 1962 में चीन ने हरा दिया, 1998 में जो कारगिल 1999 में जो कारगिल का हमला हुआ उसमें भी मेरा एक दूसरा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कारगिल का युद्ध क्यों पाकिस्तान हार गया, भारत हार गया और अमेरिका जीत गया। कि हमारे पास लेसर गाइडेड बम थे नहीं, इसलिए हम युद्ध जीत ही नहीं पा रहे थे। बाद में जब फ्रांस ने अमेरिका के कहने पे लेसर गाइडेड बम दिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को धमकाया कि सीज फायर एक्सेप्ट कर लो, हमको धमकाया कि 48 घंटे का सीज फायर दो। जब अमेरिका ने सीज फायर की डिमांड भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सामने रखी उसके बाद हमको सीजफायर देना पड़ा पाकिस्तान को सीजफायर एक्सेप्ट करना पड़ा उसके बाद कारगिल का युद्ध खत्म हुआ और आज भी थ्री नाम के जो पर्वत की चोटी है वो आज भी पाकिस्तान के अंडर में है और उसका रीजन ये कि हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान को पांच टुकड़े करके उसको खत्म कर सके जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को ख़त्म किया या अमेरिका ने इराक के कुछ आठ टुकड़े कर दिया आठ टुकड़े किस तरह से कि एक टुकड़ा है वो शेवरॉन के अंडर में एक टुकड़ा एक्सॉन के अंडर में अमेरिका की जो आठ बड़ी पेट्रोल की कंपनियां हैं उन्होंने इराक को आठ ऑयल डिस्ट्रिक्ट्स में बांट लिया है और हर एक ऑयल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिका की पेट्रोल की कंपनी है वो शासन चलाती है वहाँ पे अमेरिका की सर, इराक की गवर्नमेंट है कागज पे उनका प्राइम मिनिस्टर है उनकी पार्लियामेंट है वहाँ पे कलेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है पर कलेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो एरिया जिस पेट्रोल की कंपनी के पास है उसको पूछने के बाद किया जाता है इराक का प्राइम मिनिस्टर जब कोई कलेक्टर की अपॉइंटमेंट करता है किसी एरिया में तो पहले वो एक्सॉन के या जो शेवरॉन या जो भी पेट्रोल कंपनी है उसको एग्जीक्यूटिव को पूछ लेता है कि भाई ये कलेक्टर तुमको चलेगा या तो कभी-कभी पेट्रोल कंपनी का एग्जीक्यूटिव बोलता है कि ये आदमी है इसको तुम इस एरिया का कलेक्टर बनाओ इस एरिया का तुम एसपी बनाओ वगैरह तो इराक को आठ टुकड़ों में बांट दिया तो हम क्यों पाकिस्तान को पांच टुकड़ों में या दस टुकड़ों में नहीं बांट सकते क्योंकि हमारी सेना कमजोर है और सेना कमजोर वो इसीलिए है क्योंकि एक्टिविस्ट है वो ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटी में लगे हुए हैं और किसी को कानून सुधारने का टाइम नहीं मिल रहा और भी तरह तरह के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं जैसे कि बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं बांग्लादेशी क्यों घुस रहे हैं क्योंकि अभी तक नेशनल आईडी का कानून पास नहीं हुआ जो दूसरा मैंने चैप्टर 33 में बताया कि किस तरह से हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को नौकरी से निकाल सकते हैं वो कानून भी अभी तक गैजेट में नहीं छपे और वो कानून भी इसलिए गैजेट में नहीं छपे क्योंकि लोग ये एजुकेशन देने में बिजी है मैं इन एक्टिविस्टों को मैंने मिला तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम एक्टिविटी बंद कर दो तुम किसी गरीब आदमी को खाना दे रहे हो तो उसका फायदा है मैं क्यों उस फायदे को बंद करूंगा बाद में तुम्हारा पैसा है तुम्हारा पैसा है तुम्हें जैसे इस्तेमाल करना हो करो मैं देश में कानून सुधारने के लिए अखबार में एडवर्टाइज दे रहा हूं कोई ये भी मुझे कह सकता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट मत दो लेकिन तुम गरीबों को सीधा खाना दे दो वो अपने हिसाब से ठीक है लेकिन मैंने उन सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम जो तुम्हारी एक्टिविटी है वो दस परसेंट टाइम उसमें कम दो और वो 10 परसेंट टाइम तुम देश के कानून सुधार में दो तो कुछ हद तक सफलता मिली लेकिन अधिकतर एक्टिविस्ट है वो कहते हैं कि नहीं हमें हमारा जो पैसा है और जो टाइम है वो 100 परसेंट हमें चैरिटेबल एक्टिविटी में देना है देश के कानून सुधारने में नहीं देना मतलब 80, 90, 95 परसेंट एक्टिविस्ट मेरी बात से एग्री नहीं हो रहे कि उनको देश के कानून सुधारने में टाइम देना चाहिए अब देश में इसको नेट नुकसान कैसे हो रहा है नुकसान कैसे हो रहा है कि जब चैरिटी के बदले में टैक्स बेनिफिट लो इसको मैं क्राइम और पाप समझता हूं आपको यदि सौ रुपए किसी गरीब आदमी को देने हैं दे दो आपको यदि अपना टाइम किसी गरीब आदमी के लड़के को मैथ साइंस एजुकेशन में देना है दे दो लेकिन आपने उसमें हजार रुपए, पंद्रह सौ रुपए, पांच हजार रुपए खर्च किए अब बदले में आप सरकार को ये बोलते हो कि मैं 5000 रुपया कम टैक्स दूंगा 2000 रुपया कम टैक्स दूंगा तो मेरे नजर में क्राइम है पाप है मैं उसको कंप्लीटली अगेंस्ट हूं क्यों क्योंकि कम टैक्स दिया इसका मतलब सेना के लिए कम पैसा मिलेगा सरकार के जो प्रोग्राम चल रहे हैं राशन कार्ड के और जो उससे भी लोगों की भूखमरी खत्म हुई है आज भारत में भूखमरी नौ के बराबर है तो उसका कारण ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है उसका सबसे बड़ा काम ये राशन कार्ड की सिस्टम है कारण राशन कार्ड की सिस्टम है तो टैक्स न देने से ये सारे सरकार है वो कमजोर हो रही है और उसको दे, उससे देश को दुश्मन को देश में घुसने में देश को खत्म करने में फायदा हो रहा है इसलिए टैक्स बेनिफिट हर हाल में मैं उसका विरोध करता हूं जैसे कि मैंने इतने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी है देश के कानून सुधारने के लिए जो मैं प्रचार कर रहा हूँ मैं पैसे की बात नहीं करूंगा मैंने कितना पैसा खर्च किया वो मैं नहीं बताऊंगा मैं कभी पैसे की बात नहीं करता मैंने अभी तक में पंद्रह बीस एडवर्टाइजमेंट दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ दो एडवर्टाइजमेंट दिए एक इंडियन एक्सप्रेस में ऑल इंडिया इंडियन एक्सप्रेस एक गुजरात समाचार में राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे मैंने गुजरात समाचार में कुछ 10-12 जितने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं अहमदाबाद मिरर में मैंने तीन दिए हैं इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पांच दिए हैं तो मैं चाहता तो उसके लिए अपना टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता था कैसे कि एक संगठन खड़ा कर दिया इनकम टैक्स वाले को 10 बीस पचास हजार की रिश्वत देके एटीजी या 35 एसी सर्टिफिकेट ले लिया और मैंने अपना पैसा उसमें ट्रांसफर किया तो मुझे अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा उस पर लेकिन मैंने जितना भी अपना पॉलिटिकल एक्सपेंस किया, मैंने एक रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं किया अभी तक। इसलिए यदि आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो और बदले में टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हो या आप ऐसी किसी संस्था को मदद करते हो जो कि टैक्स बचाने में या टैक्स चोरी करने में लोगों की मदद कर रही है बदले में तो वो पाप है वो क्राइम है मोरल क्राइम है लीगल क्राइम नहीं है लीगल क्राइम तो क्या लॉ है eighty G thirty five AC section 25 company act का इस तरह से बथेरे कानून है जिसके जरिए ये तुम कहाँ कानूनी तौर पे कर सकते हो पर इससे देश को कैसे नुकसान जाता है कि बहुत सारी चैरिटेबल एनजीओ वगैरह है जो कि चैरिटी के नाम पे कुछ नहीं करती वो सिर्फ टैक्स इवेशन का काम करते हैं वो कुछ उठपटांग बता देंगे कि हमने इतने गरीबों की मदद की हमने इतने विधवाओं की मदद की हमने इतने दलितों की मदद की कुछ भी बता देंगे कहीं से भी सिग्नेचर ले आएंगे फोटोग्राफ सारे फर्जी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे उनको और एक लाख रुपए की मदद की ऐसा क्लेम रखते हैं और हो सकता है पांच दस हजार की जेन्यून मदद की हो और बदले में वो सरकार को पंद्रह हजार तीस हजार रुपया कम टैक्स देती है और उसकी वजह से देश को नुकसान जाता है सेना को नुकसान जाता है तो हर तरह की जो टैक्स बेनिफिट है चैरिटी के नाम पे चल रहा है वो बंद होना चाहिए तो अब मैं आप एक्टिविस्ट से क्या रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप चैरिटी में इन्वॉल्व है तो क्या आप इस बात से एग्री होते हो कि चैरिटी के बदले में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए तो आप अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि इनकम टैक्स एक्ट में जो 35 एसी और जी है वो सेक्शन कैंसिल किया जाए भाई एक बात बताओ जो चैरिटी करना चाहता है वो टैक्स बेनिफिट क्यों मांग रहा है मैं एक करोड़ की चैरिटी करने के बाद सरकार को बोलता हूं कि मैं पंद्रह लाख या पैंतीस लाख कम टैक्स भरूंगा तो भाई तू एक करोड़ के बजाय पचासी लाख की चैरिटी कर पैंसठ लाख की चैरिटी कर भगवान तो तेरे खाते में ऐड कर देगा वो जो पैंतीस लाख तूने सरकार को दे दिए वो भी एक तरह का चैरिटी है तो जो आदमी जेन्यून चैरिटी करना चाहता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे टैक्स बेनिफिट चाहिए वो पैंतीस परसेंट चैरिटी कम करेगा तो ठीक है कम चैरिटी से काम चलेगा तो यदि आप सचमुच चैरिटी में मानने वाले हो तो आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन जी और सेक्शन एसी आज की तारीख से कैंसल घोषित हो और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना टाइम आप चैरिटेबल एक्टिविटी में देते हो उसका मिनिमम 10 परसेंट मैं तो कहूंगा 100 परसेंट मैं फ्रेंकली आपको बोलता हूं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सारी चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब जो एजुकेशन में वो, वो गरीबों में है वो सब वो बंद करो और देश के कानून सुधारने में मदद करो क्योंकि देश के कानून नहीं सुधरेंगे तो अमेरिका की या चीन की सेना भारत पे राज करेगी इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जो कुछ लोग गाय में विश्वास करते हैं कुछ लोग गाय में विश्वास करते हैं मतलब गाय के प्रति उन्हें श्रद्धा है कि वो गाय को घास खिलाते हैं मतलब वो घास खरीदेंगे और गाय को खिलाएंगे तो इससे क्या होता है बीफ को सब्सिडी मिल रही है बीफ सस्ता हो गया पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां की गाय का मीट है वो भैंस के मीट के मुकाबले सस्ता है बाकी हर जगह गाय का मीट है वो भैंस के मीट के मुकाबले जितना ही महंगा होता है क्यों सस्ता है क्योंकि लोग गाय को फ्री में घास खिलाते हैं तो मैं गाय पे जो चैरिटी हो रही है उसका विरोध नहीं कर रहा मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गाय का घी या गाय का दूध देसी गाय हाँ, जर्सी नहीं उसका खरीदो तुम और वो तुम गरीबों में सस्ते में दो या फ्री में दो कि गाय का तुमने दूध लिया जेन्यून टेस्ट करवा लिया कि वो देसी गाय का है वो पचास रुपया लीटर है आप गरीबों में दस रुपए लीटर में दे दो या तो मुफ्त में दे दो तो उससे वो गाय को जिंदा रखना पड़ेगा गाय की जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है गोबर से बनता है या गोमूत्र से बनता है वो खरीद के आप लोगों में फ्री में बांटो गोमूत्र है उसकी मेडिसिनल वैल्यू है जिसको श्रद्धा है जिसको श्रद्धा ना है वो ना करे बाकी जो गोमूत्र गोमूत्र का आर्क है उसकी मेडिसिनल वैल्यू है मैं खुद उसका प्रमाणु मतलब मुझे खुद उसको फायदा हुआ है तो मैं जिसको चैरिटी करनी है वो गोमूत्र का अर्घ खरीदे कोई ऐसी विश्वसनीय संस्था से और उसको गरीबों में सस्ते में दे या फ्री में दे तो उससे गाय है वो जिंदा रहेगी और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि कानून पास कराने में मदद करो आज गो हत्या क्यों होती है क्योंकि गायों की स्मगलिंग में जो पकड़ा जाता है जो ट्रक जिस ट्रक में मान लो गाय पकड़ी गई तो उस ट्रक के मालिक के ऊपर या ट्रक के ड्राइवर के ऊपर नार्को टेस्ट नहीं होती क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है नार्को टेस्ट नहीं लेने का और जो एक्टिविस्ट है जो गो सेवा में लगे हैं वो पार्लियामेंट वो एमपी को एसएमएस से मैसेज नहीं भेजते कि आप ये जो भी आदमी गायों की स्मगलिंग में पकड़ा जाता है उसका narco test in public compulsory करो यदि जो आदमी नार्को टेस्ट में अरे ये गाय की स्मगलिंग में पकड़ा जाता है उसका नार्को टेस्ट कंपलसरी होगा तो उससे निकल जाएगा कि उतने कितने पुलिस वालों को हफ्ते दिए थे उसने कितने कसाईयों के वहां गाय पहुंचाता है कहां से उसने गाय खरीदी वगैरह वगैरह तो उनको पकड़ने में छापे मारने में उनके कसाई खाने बंद करने में उनको जेल पहुंचाने में आसानी होगी जब भी गाय का मीट पकड़ा जाता है तो वहां पे मीट है वो रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह भैंस का मीट रख देते हैं तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है कि वो भैंस का मीट है उसका नार्को टेस्ट इन पब्लिक हो तो एक और सबूत मिलेगा कि वो गाय का ही मीट था भैंस का मीट नहीं था उसने फॉरेंसिक वाले को या कस्टडी वाले को इतना पैसा दिया था मीट बदलने के लिए तो फिर बहुत सारे रा, राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में कानून है वहां कानूनी गाय की कत्ल कैसे होती है गाय की बैल की या भैंस की बात नहीं कर रहा कि यदि जो जानवरों का डॉक्टर है वो सर्टिफिकेट दे दे कि ये गाय है वो बीमार है या तो दूध नहीं दे सकती या तो कोई भी कि भाई ये गाय है वो दूध नहीं दे सकती ऐसा सर्टिफिकेट दे दे या बीमार है तो फिर कानूनी उसकी कत्ल लीगल है ऐसा क्यों है क्योंकि कानून में ऐसा प्रोविजन है कि वेटरनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद हो सकता है तो वो कानून ऐसा क्यों है क्योंकि जो आंध्र प्रदेश में जो एक्टिविस्ट थे गोहत्या हत्या को उन्होंने अपने सारा समय शक्ति है वो बीजेपी को जिताने में लगा दी बीजेपी के दो टुकड़े हो गए क्योंकि बीजेपी जीती तो भ्रष्टाचार का पैसा आने लगा तो येदियुरप्पा ने कहा कि इतना पैसा मुझे रखना है बाकी लोगों ने कहा नहीं मिनिमम इतना पैसा तू मुझे दे येदियुरप्पा ने कहा मुझे नहीं देना तो बीजेपी के दो टुकड़े हो गए तो उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई जो झगड़ा जो बंटवारा हुआ यदि यूरोपा में वो पैसे के लिए भ्रष्टाचार के पैसे के लिए ही हुआ था जो भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा था मिनरल्स का बेलारी की कोयल लोहे की खानों का वो यदि यूरोपा सारा अपने कब्जे में रख रहे थे बीजेपी के दूसरे एमपी एमएलए में बराबर नहीं बांट रहे थे और सेंटर को भी नहीं दे रहे थे अडवाणी और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे यानी उनको ज्यादा हिस्सा चाहिए था और यदि यूरोपा उनको ज्यादा हिस्सा देने को तैयार नहीं थे इसलिए उन्होंने ये जब संतोष हेगड़े ने येदियुरप्पा के खिलाफ जो फाइंडिंग्स दिए तो उसमें ये लोग संतोष हेगड़े को नौकरी से निकालने की डिमांड रख सकते थे लेकिन उसके बजाय बीजेपी के एमपी एमएलए ने इस तरह की डिमांड रखनी शुरू कर दी कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की नौकरी से निकालो कांग्रेस का तो इसके पीछे हाथ था ही इसमें कोई ना नहीं है कांग्रेस तो दुश्मन पार्टी है तो वो तो बीजेपी को नुकसान करने का पूरा प्रयत्न करेगी उन्होंने संतोष हेगड़े को खरीद लिया था संतोष हेगड़े ने दे दिया यूदिरूपा के खिलाफ जजमेंट पर उस जजमेंट को मतलब फाइंडिंग्स जजमेंट नहीं दिया था वो कोई जज नहीं थे लेकिन यदि संतोष हेगड़े को नौकरी से निकालने की डिमांड रखवा सकते थे बीजेपी के एमपी एमएलए में ही फूट पड़ गई और वो पैसे के लिए तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उसने ये कानून पास करवा दिया कि वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो तो गाय की कत्ल हो सकती है तो जो गो हत्या रोकना चाहते थे वो एक्टिविस्ट ने यदि एसएमएस कैंपेन शुरू किया होता बड़े पैमाने पे तो जो कांग्रेस के वोटर थे वो भी इस बात पे एसएमएस भेजने पे एग्री हो जाते कि हाँ गाय की कत्ल रुकनी चाहिए तो यदि कर्नाटक में जो चार करोड़ वोटर है वो चार करोड़ वोटर यदि एसएमएस से ऑर्डर भेजते अपने अपने एमएलए को कि ये गोहत्या का कानून कैंसल होना चाहिए तो गोहत्या का कानून कैंसिल हो जाता गोहत्या को सपोर्ट करने वाला कानून कैंसिल हो जाता तो आज कर्नाटक में जो गायें कट रही है उससे कम कटती फिर इसी तरह से मतलब मेरा पॉइंट क्या है कि जो लोग गो हत्या रोकने के लिए डायरेक्ट में लगे हुए हैं कि गायों को घास खिलाते हैं या तो जहां कोई कसाई मिला तो उस पर धावा बोल देते हैं उसका वो दो परसेंट टाइम भी यदि कानून सुधारने में लगाते हैं तो उनका काम हो गया होता है इसी तरह से कुछ लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध करते हैं तो वो लोगों को ले जाते हैं अनशन करने के लिए और नारेबाजी करने के लिए लेकिन मैंने कहा कि भाई एसएमएस से ऑर्डर भेजो एमपी को इतने इतने wholly own by Indian company तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये एसएमएस नहीं भेजने हमें तो अब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारतीय कंपनी को खरीद लेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप भारतीय खाना खा रहे हो मैं अपना एग्जांपल बताऊं कि मैं जब ये नमकीन वगैरह के पैकेट्स आते हैं तो मैं हमेशा यही पसंद करता था कि मैं भारतीय नमकीन या भारतीय पोटैटो चुप्स या लू मैं जितना हो सके कम खाता हूं पर कभी मान लो कभी खाना पड़ा तो तो मैं हल्दीराम ब्रांड को इसलिए पसंद करता था कि ये सोच के कि ये भारतीय है अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि ये तो पेप्सी ने खरीद ली अभी मैंने कंफर्म नहीं किया इस इन्फॉर्मेशन को पर मान लो उसकी इन्फॉर्मेशन सच हो कि पेप्सी ने सचमुच हल्दीराम को खरीद लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हल्दीराम है वो भारतीय नहीं है और अमरीकी हो गई और पेप्सी के पास हल्दीराम को खरीदने के बीसियों तरीके वो एफडीआई के जरिए खरीद सकती है तो उसमें हल्दीराम का जो मैनेजर है ओनर है वही चालू रहेगा लेकिन मेजोरिटी शेयर है वो एफडीआई के नाम हो गया पार्टिसिपेटरी नोट के द्वारा खरीद सकती है पार्टिसिपेटरी नोट में तो ओनर का नाम भी कागज पे नहीं आता वो सिर्फ आरबीआई के पास कॉन्फिडेंशियल रहता है आरबीआई उसको डिस्क्लोज भी नहीं करता तो ये जब तक हम कानून नहीं बदलेंगे तब तक हम खुद भिड़ने जाए हम लोगों में पर्चे बांट रहे हैं कि पेप्सी का वो चिप्स मत खरीदना हल्दीराम का खरीदना और हमको खुद को पता नहीं है कि भाई ये कंपनी है मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं की है कि हल्दीराम को पेप्सी ने खरीदा नहीं तो मुझे किसी कार्यकर्ता ने आज फोन पे बताया मेरी उससे बात हो रही थी तो का लेकिन कुछ तो मैं बताऊं कि डाबर को बर्मा जो डाबर है उसको एक जर्मन कंपनी ने खरीद लिया तो तुम ये डाबर की चीज खरीद के खुश रहे हो रहे हो कि आप स्वदेशी चीज खरीदी और वो पैसा तो किसी जर्मन कंपनी के पास जा रहा है तो इस तरह से जब तक कानून नहीं सुधरोगे तब तक ये सारे प्रयत्न सेल्फ हेल्प में जो बोलता हूँ वो सब असफल रहेंगे तो मैं आप सब एक्टिविस्ट को बोलूंगा कि आप मिनिमम 10 परसेंट टाइम और 10 परसेंट पैसा देश के कानून सुधारने में लगाओ जब मैं पैसे की बात करता हूँ तब ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसा भेजो वो तो सिस्टम है ही नहीं राइट टू रिकॉल ग्रुप में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैम्पलेट छकवा के लोगों में बांटो और एक ये मोदी जी भी अब इस बात पे थोड़े बहुत एग्री हो रहे हैं ये मोदी जी का इंडियन एक्सप्रेस का स्टेटमेंट है कि charity to win polls will not help villages उन्होंने will not develop help villages develop हाँ मतलब इससे गांव में रहने वाले लोगों का यानी पूरे भारत का विलेजेस का तो उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया कि इस तरह के चैरिटेबल एक्टिविटी से किसी का कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला यह देश के उन्होंने गवर्नेंस की बात की है मैं कानून सुधारने की बात करता हूं वो गवर्नेंस शब्द इस्तेमाल करते हैं वो अलग-अलग है थोड़ा उसमें फर्क भी है थोड़ी सिमिलरिटी भी है मैं देश के कानून सुधारने की बात कर रहा हूं ज्यूरी सिस्टम वगैरह गवर्नेंस से बढ़कर बात है गवर्नेंस में यह आएगा कि भाई कोर्ट को ठीक से चलाओ यानी कंप्यूटराइज कोर्ट हो जाए समन्स कंप्यूटराइज हो जाए वो सब गवर्नेंस की बात है लेकिन जब जज खुद बिका हुआ है तो तो उसका सॉल्यूशन है ज्यूरी सिस्टम जो कि गवर्नेंस से ऊपर की बात आती है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की बात आती है तो वो बात को काफी हद तक आप देख रहे हैं कि मोदी साहब भी एग्री कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देश के कानून सुधारने में मदद करो धन्यवाद